हम उनका यजन पूजन भोजन करते हैं यजामय का भोजन कर रहे हैं और शरणाचार में लिखा है ये कैसे है महात्मा 多。 गई है जैसे खरबूजे का फल अपने बेग में लगा होता है तो समय आने पर वो अपने आप ही उससे छूट जाता है अलग हो जाता है उसको तोड़ना नहीं पड़ता काटना नहीं पड़ता अपने आप ही अलग हो जाता है इसी तरह हे प्रभु आप इनको मृत्यु से मुक्त कर दीजिए अमृत से मुक्त मत कीजिए माने मृत्यु तो अपने आप ही हमसे दूर है और अमृतत्व जो हमारा स्वरूप है अमृतमय में साक्षात परमात्मा वो हमें हमेशा प्राप्त रहे अमृत स्वरूप परमात्मा से हमको कभी छुटकारा न मिले और मृत्यु रूप जो संसार है वो हमारे साथ न लगे मंत्र का अर्थ साधारण रूप से यही है अब इसमें कोई शंका हो जिसके कारण चित्त की शांति भंग शंका उसी को कहते हैं जो चित्त की शांति को भंग कर दे सम शांति जो हमारे चित्त की शांति को भंग कर दे उसको शंका कहते हैं तो कोई किसी के मन में मंदिर के बारे में कोई शंका हो तो वो अलग से पूछ सकता है वैसे तो ये मंत्र सार्वजनिक नहीं है जब समूह में भी कोई उच्चारण करना होता है तो पंडित को उतने समय चुप होकर जब बाली में इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं कनसार्थितो शब्द किस धातु से बना हुआ है ये हम्म। खनना खोदना जिस धातु से बना हम्म। खनन खनन हम्म। विखनसा प्रलय के समय प्रधान में प्रकृति में जो सृष्टि लीन होती है जैसे ठोस खेत में कोई बीज छुपे हुए हो और उनको फिर खोद के जुताई करके उसमें से उनको पैदा किया जाए इस प्रकार इस छिपी हुई सृष्टि को जिन्होंने अपने संकल्प के अनुसार बनाया उनका नाम है दिखना विशेषण खन थी दिखना जो विशेष रूप से खने माने धरती में गड़ी हुई चीज को निकालते प्रलय में अवस्था में रहने वाले जीवों को प्रकट करे उसको विखरस कहते हैं विखरस विश्वगुप्त सखोदयवान सार्थता खुले श्लोक गोपी गीत का है कनक मंजरी इसका छंद है और दोनों ही तरह से इसका अर्थ होता है न गोपी गोपिका नंदनो भगवान हाँ। आप केवल ग्वालियर के बेटे नहीं हैं गोपी के बेटे नहीं हैं कि इस प्रकार कटु बर्ताव हम लोगों के साथ करें फलों को पिताने भगवान आप तो अखिल देहिनाम अंतरात्म दृत संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं बिखर सारथी तो विश्वगुप्त है सखव देवान सात्वकाम खुले ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए आप जगवंश में प्रकट हुए एक अर्थ तो इसका ये होता है और दूसरा यो होता है न खलु गोपिका नंदन राम आप हमारी दयामयी प्रेममयी वत्सल्यमयी गोपी जसोदा माई के बेटा नहीं है न खलु गोपिका नंदनो भोला तो ठीक है गोपी मैं गोपी का बेटा नहीं हूँ मैं तो अंतर्यामी हूँ सबके हृदय में रहने वाला ना ना अखिल देहिनाम अंतरात्म ग्रेक नख आप संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाले भी नहीं हैं क्योंकि सबके हृदय में रहने वाले होते और उनके कष्ट को देखते उनके दुख को देखते उनकी पीड़ा को समझते तो इस तरह से नहीं रहते देह देना अंतरात्मा दे अरे क्या है तो अच्छा गोपी ठीक है मैं अंतर जाने हुए नहीं हूँ परंतु ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं प्रकट हुआ हूँ बोले न करू बिखर सार्थी था आपसे ब्रह्मा ने प्रार्थना नहीं की क्योंकि विश्व की रक्षा के लिए यदि ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना की होती तो आप विश्व की रक्षा करते हम भी तो विश्व में ही है हम आपके बिना इतनी इतनी पीड़ा भोग रहे हैं और आप टुकर टुकर कहीं से देख रहे हैं न करो विफल सार्थी तो विश्वगुप्त है तब वो कि मैं हूँ क्या सुख उदय युवान सात्वतान खुले अच्छा इतना तो न सही ये तो मान लो मैं जदवंश में प्रकट हुआ हूँ जदवंशियों को सुख पहुँचाने के लिए तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप इसके लिए भी प्रकट नहीं हुए हैं न करूँ लिखन सार्थिको तो विश्वगुप्त सख उदयन सातता अंकुल आप सातता अंकुल जदुवंश में भी पैदा नहीं हुए तो तब क्या है मैं हूँ क्या तो सब कलू भगवान की उदयवान आप तो आकाश में पैदा हुए ऐसी आकाश में झटक पड़े असल में आपका न कोई जन्म है न कर्म है इसी से इतनी पीड़ा हम लोगों को पहुंचा रहे हैं और इतना वियोग का कष्ट दे रहे हैं भगवान ने गीता में कहा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है हाँ। तो इस अपरिवर्तनशील नियम के होते हुए हम्म। जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने को क्यों कहा जाता है ऐसा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं भगवत तत्व ज्ञान जिनको नहीं है जो भगवान की शरण नहीं है उनके लिए ये सब अपरिवर्तनीय नियम होते हैं आत्मा तो वस्तुता अजन्मा है न कश्चित थे जीवा संभव से न थे आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है आप तो गीता में ही तो पढ़ते हैं ना न थे म्रियते कदाचित न्यायम भूतवा भवितावान भूया आत्मा का जन्म मरण नहीं है तो आत्मा का जन्म मरण नहीं है शरीर का ही जन्म मरण होता है इसलिए वो जो अपरिवर्तनीय नियम है वो देहधारी के लिए देहाभिमानी के लिए जो देहाभिमानी से मुक्त है उस पुरुष के लिए वो नियम नहीं है तो शांत सुना है कि आपके श्रीमुख से सुना था कि परमात्मा प्रकट नहीं होता होता न हुआ न होगा केवल अज्ञान अंधकार दूर होता है जबकि प्राय सभी पुराणों में ये बात मिलती है कि भगवान प्रकट हुए वचन दिए वरदान दिए सधाम पधार गए कृपया से स्पष्ट है तो ऐसा है कि असल में तो आप ये भी पढ़ते हैं कि भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है अद्वितीय है भगवान परिपूर्ण है भगवान सर्व है भगवान रूप है भगवान सर्व सर्व उड़ाने है भगवान सबकी आत्मा है भगवान ये तो आप एक बार नहीं अनेक बार पढ़ते ही होंगे और जब पढ़ते हैं तब तो आप उस पर विचार कीजिए कि एक बार तो ये बात बात कही जाती है कि जन्म मरण नहीं है और एक बार ये बात कही जाती है कि जन्म मरण होता है तो दोनों का अर्थ क्या है तो दोनों का अर्थ ये है कि जो लोग परमात्मा का भजन करते हैं भक्ति करते हैं या उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके और हमारे बीच में एक अंधकार है एक अज्ञान है ईश्वर हमसे दूर नहीं है मैं यहाँ और परमात्मा वहाँ उत्तर में जीव और दक्षिण में परमात्मा या दक्षिण में परमात्मा और उत्तर में जीव ऐसा नहीं है ऊपर ईश्वर हो और नीचे जीव हो ऐसा भी नहीं है और अब परमात्मा हो और तब जीव हो तो परमात्मा और जीवात्मा इस सर्व समय में सर्व स्थान में और सर्व रूप में ये परिपूर्ण है तो मालूम क्यों नहीं पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि अज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार बीच में आ जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है तो जब ईश्वर कृपा करते हैं अथवा जीव की जो दृष्टि है वो वेदांत वाक्य के विचार से पवित्र पूत हो जाती है द्वैत रहित हो जाती है तो जब जीवात्मा की दृष्टि में से द्वैत निकल गया तो प्रकाश हो गया और परमात्मा ने अनुग्रह कर दिया तो प्रकाश हो गया परमात्मा वहां से यह आता नहीं है या तब से अब पैदा नहीं होता है या वह से यह नहीं होता है देश काल वस्तु का भेद परमात्मा के साथ नहीं है केवल बुद्धि में जो भ्रम है और वो भ्रम क्यों है अविद्या के कारण अपने आप को न जानने के कारण हम अपने को दूसरे समझने लगे हैं है तो परमात्मा के स्वरूप है तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा लेकिन अपने को उपाधि के साथ एक करके अंतकरण के साथ एक करके अपने को जीव मान बैठे हैं इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ अंधकार की अंधकार की निवृत्ति मात्र ही होता है ये अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होती है तब परमात्मा का दर्शन हो जाता है उसी का नाम है प्रकाश जो स्वामी जी ने कहा कि जब चिंतामणि मिल जाती है तो उसके प्रकाश में परमात्मा का दर्शन होने लगता है तो चाहे ज्ञान दृष्टि कहो उसका नाम प्रकाश है और चाहे चाहे उसको ज्ञान दीपक कहो उसका प्रकाशक प्रकाश है प्रकाश माने अज्ञानांधकार की निवृत्ति होती है कोई अप्राप्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है हमको हमको दिखता नहीं है हम पहचानते नहीं है तो किसी को आगे आना हो पास आना हो तो आ जाए ये न समझे कि हमारा ध्यान नहीं गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने अनेक देवताओं की स्तुति की किंतु उन देवताओं ने गजेंद्र की रक्षा क्यों नहीं इससे मेरा स्पष्ट है राजेश ऐसा है कि परमात्मा तो सबकी रक्षा के लिए तैयार होता है पर सबकी शक्ति होती है कौन देवता अब समझ लो कि एक सिपाही है तो वो किस कैदी को जहाँ पकड़ा गया वहीं जमानत दे देता है किसी किसी को थानेदार देता है किसी को सुपरिंटेंडेंट देता है किसी को कलेक्टर देता है तो छोड़ने का एक सामर्थ्य होता है कि कौन किसको छोड़ सकता है ये जो ग्रह है ग्रहण है जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना ये ग्रह जो है ये अज्ञान है भ्रम है ये अंधकार है ये सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई इसको दूर नहीं कर सकता हम्म, जयदात Ashisha निषेध अशेष निषेध शेष जो भगवान है वही सर्वरूप है और वही अज्ञान रूप विवाह को दूर कर सकता है उसके सिवा दूसरा कोई उसको दूर नहीं कर सकता है इसलिए गजेंद्र गजेंद्र को हो गया था अभिमान देहाध्यास ही गजेंद्र का मुख्य दोष था क्योंकि एक ऋषि महर्षि महात्मा उसके स्थान पर आए और वो ये समझता था कि मैं बड़ा भगत हूँ ये कर्मकांडी लोग ऐसा सिखा देते हैं तुम यज्ञ जाग हो रहा हो और हवन हो रहा हो धर्म की विधि हो रही हो और उसमें कोई बड़ा महात्मा आया तो कहेंगे चुप हो चुप हो बैठ रहो उठना नहीं असल में महापुरुष के आने पर उठ जाना चाहिए यही इसका नियम है प्राण का उत्क्रमण होता है जब अपने से बड़ा पुरुष कोई वहाँ आता है तो प्राण जो है वो निकलते हैं तो जब प्रत्युत्थाना पुरस्कार प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम देते हैं जब वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है तब फिर उसके प्राणों की प्राप्ति हो जाती है इसलिए महापुरुष के आ जाने पर पूजा करता हो तब भी भगवान का भजन करता हो तब भी उस समय उस सत्पुरुष के रूप में प्रत्यक्ष परमात्मा आए हैं उसको उठ के खड़ा हो जाना चाहिए भजन करना चाहिए एक परमात्मा की तो आप भावना कर रहे हो और एक परमात्मा मूर्तिमान होकर के आपके सामने आए तो मूर्तिमान जो संत रूप परमात्मा है उनका आदर करने के लिए आपको पूजा करते समय भी पाठ करने करते समय भी सतपुरुष का आदर करना चाहिए इंद्र जुम्न राजा ने उस महात्मा का आदर नहीं किया पूजा के समय इससे सिद्ध होता है कि उसके भीतर अपने पूजा पाठ का बड़ा भारी अभिमान था देहाभिमान उस देहाभिमान की निवृत्ति के लिए वो साप दे दिया वो साप भी अनुग्रह ही है वो क्यों अनुग्रह है उससे वो मनुष्य जोनी से छूटेगा गजेंद्र जोनी में जाएगा और गज जोनी में से गज जोनी में से वो छूट करके साक्षात परमात्मा का पार्षद हो जाएगा परमात्मा से मिल जाएगा इसलिए गजेंद्र का उद्धार सिवाय तत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा के जो कि देहाध्यास का निवर्तक है उसके सिवाय और दूसरा कोई नहीं कर सकता है इसलिए जी की कथा इस प्रकार से आई है आज श्रीमद अनुवत जैन जी बल एवं शांति के निधान हनुमान जी के बारे में आपके श्री मुख से लोग सुनना चाहेंगे हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये कि है तो वो भगवत स्वरूप ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तीन नहीं है एक ही है परंतु विष्णु भगवान की सेवा करने के लिए रामचंद्र भगवान की सेवा करने के लिए वे नर से बानर हो जाते हैं नर से बानर होने का अर्थ ये कि जिसकी सेवा की जाती है उसकी बराबरी करके सेवा नहीं की जाती बराबर नहीं बैठा जाता है उसके और छोटा से छोटा उसका जो काम होता है वो किया जाता है तो हनुमान जी की विशेषता ये कि उनके पास कोई वाहन नहीं है न गरुड़ है न हंस है न बैल है बिना वाहन के रहते हैं और बल्कि स्वयं अपने को भगवान का वाहन बनाकर संदेश हर बना करके जो भी काम सेवा का होता है भगवान वो करते हैं कई प्रसंगों में तो देखा जाता है कि सीता जी भी भगवान से बिछुड़ जाते हैं तो हनुमान जी ही सीता जी को मिलाते हैं यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण जी के प्राण निकलने लगते हैं तो वहाँ भी हनुमान जी ही फिर से लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं इसलिए हनुमान जी का जो सामर्थ्य है वो तो वही शिव सामर्थ्य है स्वयं साक्षात परमेश्वर के स्वरूप है तो परमात्मा के साक्षात स्वरूप है हनुमान जी और वही सेवक के रूप में जो स्वामी है उसका सेवक के रूप में प्रकट हो करके और लोगों का कल्याण करना ये सबसे बड़ी बात है और कथा की बात तो कहानी की तो कथा कहानी तो बहुत है हनुमान जी के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ प्राप्त होते हैं आप उनको पढ़िए तो अपना अनुभव सुनाइए जो आपकी रक्षा की हनुमान जी तो स्वृत्तम आत्मवृत्तम न कथनी अपना चरित्र अपना चरित्र भगवान का चरित्र आपका है चरित्र कई बार ऐसा हमको अनुभव हुआ है कि जब मैं उदास हो गया हूँ निराश हो गया हूँ जब कोई सहारा नहीं हुआ रहा है तब हनुमान जी ने हमारी रक्षा की है और प्रत्यक्ष रूप में ही रक्षा की है इसकी इससे अधिक आपको अपना अनुभव क्या सुना तो शांति त्रिका विभूति महानारायण के अनुसार एक जिज्ञासा है अविद्या भूमि में जो पदार्थ है वह सावयव होने के कारण अनित्य है लेकिन सुविद्या आनंद और तुरीय भूमि में जो पदार्थ है वो निर्धर्मक निर्विशेष ब्रह्म के समान ही वस्तुतः सत्य है इसके पीछे क्या रस और रहस्य मेरा जो है उसको पूर्व तत्व की दृष्टि से तो उसको यथार्थ रूप से सगुण सधर्मक सविशेष नहीं कहा जा सकता परंतु उपासना की दृष्टि से उपासना की दृष्टि से वो सगुण है सविशेष है सधर्मक है उपासना करने के लिए ही जो चित्त वृत्ति से परे है निर्गुण है उसकी भी उपासना की जाती है तो अनिर्वचनीयता अनिर्वचनीयता में ही अभिप्राय है कि प्रकृति भी नहीं है प्राकृत भी नहीं है प्रकृति और प्राकृत से बहुत विलक्षण है जैसे अपने लोगों के यहाँ एक चित और एक अचित के बीच में चिदाभास होता है वो चिन्मय ही होता है और वो आराध्य होता है तो इसी प्रकार परमात्मा का ये जो बीज के रूप है ये सब उपास्य कोठी में है वे उपासना के प्रकरण में है वो तत्व ज्ञान के प्रकरण में नहीं है उपनिषद में आनंदमय कोष की शुद्धि के लिए भी प्रार्थना की गई है आनंदमय अशुद्धियंता तो इसका अर्थ हुआ कि आनंदमय में भी जैसे मोद प्रमोद आदि वृत्ति होती है वैसे उस परमात्मा में भी परमात्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप और उपास्य रूप में जो स्तर है उनमें हाँ, छोटे स्तरों की अपेक्षा ऊंचे स्तर उसमें भी होते हैं जहाँ देश का संबंध होता है वहाँ व्यापकता का वर्णन करते हैं जहाँ काल का संबंध होता है वहाँ नित्यता का वर्णन करते हैं और जहाँ कारणता का संबंध होता है वहाँ बीज रूपता का अधिष्ठानता का वर्णन करते हैं असल में परमात्मा तो एक ही है जिज्ञ उपासक उपासक की उपासना की दृष्टि के अनुसार उसके अधिकार के अनुसार ही उसका विशेष विशेष रूप से वर्णन किया जाता है क्योंकि विशेष पक्ष जो है वो अंततोगत्वा व्याकृत पक्ष में ही आवेगा कुछ न कुछ आकृति का भेद उसमें अवश्य होगा प्रथम आकृति से दूसरी आकृति में भेद दूसरी आकृति से तीसरी आकृति इसलिए व्यापक पक्ष होगा तो उसका दो भेद कर देंगे एक दिव्य और एक अदिव्य तो एक ये व्याकृत जो है एक दिव्य व्याकृत है और एक अदिव्य व्याकृत है तो ये हम लोगों की जो लौकिक सृष्टि है की आदित्य जाति थे और वो परमात्मा में उपासना के स्तर में जो सृष्टि है वो दिव्य दिव्य व्याकृत है और उसमें भी परमात्मा में कोई स्तर नहीं है जो उपासक है उस उपासका के उपासक के चित्त में जितनी सूक्ष्मता होती है उसी के अनुसार उसका ग्रहण होता है ये ग्रहण जो है वो अंतकरण के अनुसार ही होता है परमात्मा में किसी प्रकार की न्यूनता अधिकता नहीं होती है आप जानते हैं आप तो ऐसी शास्त्रों में अधिदैव का वर्णन मिलता है हम्म। तो एक जिज्ञासा है कि मन के अधिदैव जैसे चंद्रमा है हम्म। अब चंद्रमा का जो साकार रूप होगा हम्म। वहाँ वे अपने मन के अधिदैव तो स्वयं होंगे लेकिन इतर करण के अधिदैव अलग अलग होंगे या इतर करण के अधिदैव भी चंद्रमा स्वयं ही होंगे सब करणों के अनुदेव अलग अलग होते हैं तो मन के अवदेव भी पृथक ही हैं और मन तत्त करणों के साथ तादाद में प्राप्त करके तब तत्त विषयों को देखता है इसलिए जिस करण के साथ नर का तादाद में हो जाएगा उस देवता के साथ उतने काल के लिए तादाद में हो जाएगा और जहाँ दूसरे देवता के साथ तादाद में हुआ वहाँ दूसरे के साथ होगा माने मन का एक रूप नहीं है एक सर्वम मन है वह सर्व रूप में मन ही प्रकट होता है स्वप्नावस्था में भगवान प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो प्रमाण है उनकी उपयोगिता और सार्थकता किस प्रकार रखी है स्वप्न कही है उनकी स्वप्नावस्था में प्रमाण प्रमेय तो स्वप्नावस्था में जो प्रमेय है वो तो स्वप्न है ही इसलिए उसको प्रत्यक्ष आदि के द्वारा दिखाने वाले प्रमाण भी स्वाप नहीं स्वाप्निक कही है वो कोई जागृत के लिए यथार्थ नहीं है जावत स्वप्न है तावत उनकी यथार्थता है वस्तुता स्वप्न में तो कोई कोई यथार्थता नहीं होती है क्योंकि वहाँ न देश है न काल है न द्रव्य है और देश काल द्रव्य न होने पर भी सब दिखाई पड़ते हैं तत्र न रथा न रथ तो योगा न पंथा न जी प्रमेय की बात तो ठीक है प्रमाण ये वो नहीं होंगे जो जागृत में उसके बुद्धि में संस्कार पड़े हैं वही तो स्वप्न में आएंगे प्रमाण की दृष्टि से प्रमाण स्वामी स्वप्न और जागृत में कार्य कारण भाव ऐसा वेदांत का सिद्धांत नहीं है ये तो शब्द इधर से जब हम जागृत अवस्था की ओर से देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि स्वप्न संस्कार से दिखता है लेकिन यदि आत्मा की ओर से स्वप्न का निरीक्षण करें तो उसमें न कोई संस्कार है न कोई स्मृति है एक स्वतंत्र अवस्था है स्वप्न स्वप्न स्वप्न जागृत अथवा सुसुप्ति का कार्य नहीं है बल्कि स्वप्न एक स्वतंत्र अवस्था है और वो अपने समय से आती है और चली जाती है उसका दोनों से न जागृत से और न सुसुप्ति से दोनों से कोई कार्य कारण संभव नहीं है अच्छा ये मार्बल है ना बहुत चिकना चिकना इसी पर इसी पर भीतर भीतर कमरे में तो ऐसा है कि वैसे तो ये लोग हमको सहारा के उठाया करते थे कल हमको ख्याल नहीं रहा कि सहारा लेना चाहिए ऐसे ही उठ के खड़ा हो गया तो तो नहीं चोट तो नहीं ये दोनों हाथ जो है हमारे ये दोनों आंख और दोनों नाक को इन्होंने बचा दिया नीचे जो चोट लगी उसकी कोई बात नहीं भगवान की बड़ी मैदान में पूछा हुआ नहीं था खाली नंगा मारो बाकी नॉर्मल तो आजकल ऐसे नंगे मार्बल की चली है चाल महाराज कि खड़ा होना मुश्किल ये हम लोगों के यहाँ जो मार्बल है ये तो मामूले हैं बड़े लोग तो ऐसे मार्बल लगाते हैं मार्बल तो खड़ा होना मुश्किल सबके लिए भी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद घर में हृदय हृदय में प्रेम का ज्ञान का सुख का दीपक प्रचलित हो महर्षि प्रश्न है आपकी श्रीमुख से सुना नहीं के अमृतत्व मानस त्याग के स्वरूप पर विशेष प्रकाश का देखो त्याग का असली स्वरूप तो यह है कि जो अपना आत्मा है स्वयं है उसका तो त्याग किया नहीं जा सकता और जो अपना आत्मा नहीं है स्वयं नहीं है वो पहले से ही त्यागा हुआ है है ही नहीं था तो जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और अपने को दूसरा मानना ये एक भ्रम है और ये भ्रम है सत्य के आत्मा के अज्ञान से तो इस अज्ञान पर्यंत की त्याग अपने स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ अपने को पहले देह से मालूम पड़ता है फिर बुद्धि से मालूम पड़ता है फिर स्वरूप से मालूम पड़ता है जो कुछ अपने स्वरूप से अतिरिक्त मालूम पड़ता है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है ये तो है सांख्य के अनुसार त्याग और दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे स्वरूप के सिवाय ये है वेदांत के अनुसार त्याग संसार में संबंध जितने हैं वे प्रत्यक्ष रूप से कल्पित है पत्नी पहले पत्नी नहीं थी एक दिन वो पत्नी बन गई पिता ने दान कर दिया या स्वयं पति ने स्वीकार कर लिया या स्वयं और इससे पति पत्नी की बात तो बहुत स्पष्ट है कि कोई संबंध न होने पर भी संस्कार के द्वारा संबंध प्रतिष्ठित किया गया और वो बहुत उपयोगी है लोक कल्याणकारी है वो भी अनेक के त्याग की एक सीढ़ी है अनेक स्त्री के साथ संबंध न हो इसके लिए एक स्त्री से विवाह अनेक पुरुष से संबंध न हो इसके लिए एक पुरुष से विवाह ईश्वर के ओर चलने के लिए ये भी मार्ग प्रारंभ होता है और जहाँ स्त्री पुरुष के संबंध की कामना ही न हो वहाँ तो ब्रह्मचर्या देव ब्रजे ब्रह्मचर्य से ही निवृत्त हो जाने की आज्ञा शास्त्र में है अब माता पिता आदि के संबंध है ये श्रद्धा मूलक है लोगों ने बताया कि ये तुम्हारी माँ है लोगों ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं और हमने उसको बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से स्वीकार किया और उसके अनुसार जीवन भर अपने धर्म का पालन किया पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए माता की सेवा कैसे करना चाहिए मातृदेव भव पितृदेव भव माता को देवता समझो पिता को देवता समझो स्वर्ग के देवता तो मिलते नहीं है मर्त लोक में जो देवता है उनकी सेवा करो आचार्य देवो भव गुरु को देवता समझो अब इस तरह से धन को यदि देखें तो धन के साथ जो संबंध है वो तो बहुत ही अज्ञान मूलक है क्योंकि वो तो पहचानते ही नहीं है कि मैं किसका धन हूँ चोर चोरी करके ले जाए डाकू लूट ले कहीं छूट जाए दूसरा कोई निकाल ले वो तो पहचानता ही नहीं है कि हमारा मालिक कौन है तो ऐसी स्थिति में हम धन से तो एकांगी प्रेम करते हैं धन हमसे प्रेम नहीं करता धन से हम प्रेम करते हैं और फंस जाते हैं अब त्याग को और ऊपर बढ़ाओ तो त्याग में देह को मैं मेरा मानना फिर स्थूल शरीर को मैं मेरा मानना सूक्ष्म शरीर को मैं मेरा मानना ये ये भी त्याग करने योग्य है क्योंकि ये अपने नहीं है स्थूल शरीर बदलते रहते हैं और सूक्ष्म शरीर तो पल पल में बदलता रहता है स्थूल शरीर भी बदलता रहता है पर मालूम नहीं पड़ता है